लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं आप कह दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह भी है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं और इन दोनों का गुनाह उनके फायदे से ज्यादा बढ़ा हुआ है और लोग आपसे पूछते हैं कि वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए क्या खर्च करें आप कह दीजिए कि जो तुम्हारी जरूरत से जायद हो अल्लाह इसी तरह अपने अहकाम तुम्हारे लिए صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو